कहा कौशलाधीश जो भ्राता धन भी सकल लोक विख्याता कहा नल नील दुविध सुग्रीवा अंगद हनुमंत बल सीमा कहा विभीषण भ्राता द्रोही आज सब हथ मार हो कही कठिन बान संधाने अतिशय क्रोध श्रवण लगिताने सर समूह सो छाण लादा जनु सपक्ष था वही बहुनादा भारत दीपे किए बानर को हो न सके ही अवसर जहाँ तहाँ भाग चले कपिरी था विसरी समय जुटी गई था तो कपि भानु नरण में देखा तीन से जैन प्राण अवशेषा दस दस सर सब मारिसी परे भूमि कपवीर सिंहनाथ कर कर जा मेघनाथ बलवीर सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय फुलो भय सब संतन की जय अब वो जब मेघनाथ मैदान में आता है तो ललकारता है अब उनके साधारण मानवों से वो क्या लड़े वो जो सेनापति हैं मानव सेना के उनको सबको नाम ले लेकर के उनको पुकारता है कि हम तुमसे युद्ध करने आए हैं आ जाओ तुम लोगों में किसी को साहस हो ऐसे बोलता है कहाँ कौशल आदमी से दूर खाता वो ये चाहता है कि राम लक्ष्मण जी भी आकर के ये भी मुझसे युद्ध करें आज तो उनको ललकारता पहले वहां से शुरू करता है माने वो अपने आप को समझता कि मानस साकर सेना के मैं सबसे प्रधान हूँ और ये इनको भगवान राम को लक्ष्मण जी को इनको आकर के मुझसे लड़ना चाहिए हमारी इनका युद्ध हो सब कोई युद्ध की शोभा है साधारण लोगों से क्या लेना तो पहले उनको आवाज देता है भले ही सकल लोग विख्यात वे अपने आप को समझते हैं कि सारे संसार मन विख्यात है बड़े धनुषमार चलाने वाले हैं आ जाए मैदान में आकर के देखे और हमसे युद्ध करें तब पता लगे उनको और कहा नंद नील द्रविद सुग्रीवा और भी जिसके जिसके नाम उसने सुने थे उनको सबको ललकारता है ये कल जब युद्ध हो रहा था पहले दिन का तो उसने मेघनाथ ने बानरों के द्वारा जब वो जय जयकार बोलते थे तब इनका भी नील पवित्र सुग्रीव अंदर हनुमान उनके सब नाम ले लेकर के पुकारते थे और ये ये सबके सब वो सेनापति हैं जो पिछले दिन अनेक द्वारों के ऊपर लगे हुए थे पश्चिम द्वार पर हनुमान जी लगे दक्षिण पर अंदर लगे थे तो उनके नाम है पूर्व द्वार पर नील और पुलिस लगे हुए थे तो उनके नाम है और ये लोग सुग्रीव का भी नाम ले लेकर के जय जयकार बोलते थे भगवान राम का नाम लेकर के जय जयकार बोलते तो बस इतने जितने नाम उसने सुन रखे थे उन्हीं के सबका नाम ले लेकर के इन सबको इनको ललकारता है और बुलाता है कि आ जाओ युद्ध करने और जब ऐसे कहता अंगद हनुमंत बल सीमा तो ये नहीं कहता कि तुम बड़े बलवान हो बड़े सब बल की सीमा हो ये कहता तुम अपने आप को बड़ा शक्तिशाली समझते हो आ जाओ मैदान माने हमारे सामने तुम कुछ नहीं जाने जितने तुम शक्तिशाली हो ऐसे करके वो उनसे बोलता है कहा विभीषण भ्राता द्रोही अंत में विभीषण को भी ललकारता है और विभीषण को ये भ्राता द्रोही कहता है तो विभीषण भ्राता द्रोही मैंने अपने भाई से भी लड़ने वाला अब ये बात ये एक मेघनाथ ही है जो विभीषण को भ्रातद्रोही कहता है मंदोदरी भी विभीषण को भ्रातद्रोही नहीं कहती ये माल्यवंत भी नहीं कहता और, और जितने उसके दरबार में कोई नहीं है विभीषण तो को भाग दो तो ही कोई नहीं कहता ये सब लोग अधिकांश लोग यही समझते हैं कि विभीषण ने अच्छा किया जो रावण को छोड़ करके चले गए और विभीषण ने रावण को अच्छी शिक्षा दी वक्त में युद्ध करने के लिए सीता जी को लिया करके ये कार्य कर रहा है तो विभीषण ने अपने भाई के साथ में अच्छा भाई पना का निर्वाह किया ये तो रावण ही है जिसने कि अपने भाई को अच्छी राय देते हुए भी उसको निकाल दिया लात मारी इसलिए विभीषण को भात दो ही नहीं कहता भात दो ही रावा भले ही हो लेकिन विभीषण को भात दो ही तो नहीं मानता लेकिन मेघनाथ उसको कहता था कहा विभीषण भाता द्रोही ऐसे बोलता है कहता आज समय हठी मारो वो जी कहा जितने लोग हैं ये सब आ जाएंगे तो करने के लिए आज सबका मैं संचार कर दूंगा डट करके युद्ध होगा हमारा किसी को बचना नहीं दूंगा ऐसे बोलता मेघनाथ असतः कठिन बान समझाने ऐसा करके कुछ ने कठिन बाण संधाने माने खूब धारदार नोकदार खूब ऐसे बाण तैयार के चलाए जो कि इन लोगों के लगे तो लग करके घायल हो जाए कठिन न पाए और कठिन निशास्त्र में भी तो धनुष के ऊपर चढ़ा करके जब ज्यादा खींचा जाता है धनुष तो वो बाढ़ और भी कठिन हो जाते हैं मैंने लगते हैं तो भीतर तक प्रवेश कर जाते हैं उनमें शक्ति ज्यादा आ जाती है तो अतिशय क्रोध श्रवण लगी कान है इसलिए उसने उन बाणों को धनुष के ऊपर चढ़ा करके बड़े क्रोध से धनुष को खींचा तो काम तक खींचा माने ये धनुष के खींचने का अंतिम है जैसे धनुष ऐसे हाथ में लिया और ऐसा खींचा तो थोड़ा खींचा अब यहाँ से छोड़ देंगे तो बाढ़ थोड़ी दूर जाएगा और यहाँ तक खींचेगा तो और दूर जाएगा और ज्यादा से ज्यादा हाथ काम तक जा सकता है इतना खींच दिया तो मैंने मैक्सिमम हो गया इससे ज्यादा धनुष की खिंचाई नहीं हो सकती और बाढ़ से ज्यादा शक्तिशाली हो नहीं सकता इसलिए पूरी शक्ति लगाने के लिए बाढ़ को छोड़ने के लिए इस प्रकार से बोलते हैं कि उसने बाणों को धनुष पर चढ़ा करके काम तक खींचा जिससे कि उन्हें खूब बढ़ा जाए बाणों में और जा करके लगे और उनके गिर जाए और मर जाएंगे लोग तो बड़ा क्रोध करके इस प्रकार से बात जाए तो सर समूह को छाड़े लागा तो एक बार थोड़े किसी प्रकार सर समूह मैंने बाढ़ से बाण ढेरों के ढेर बाढ़ इस प्रकार से मेघराज छोड़ने लगा और वो उसके ऊपर जा जा करके इनके योद्धाओं को साथ लगने लगे जा करके और जन शपथ धावन बहुनागा और ये सब के सब बाढ़ ऐसे छूटते हैं जैसे नाग सर्प की तरह से सरसराते हुए निकलते हैं और सपक्ष के मारे जैसे जिनके की पंखे बाकी ये सर्प जमीन करें नहीं रहे ये तो बाघ आसमान से चलते हैं उड़ते हुए तो इसके मारे जब सर्प जिसके की सर्प के पंखे हो और वो आसमान में उड़ता हुआ सर्प चले वैसे बाघ क्योंकि बाघों में भी पंखे होते हैं तो उनके आगे नौ पैर रहते होते हैं किनारा होता है उसमें ऐसे करके बाढ़ में पंखे बनाए जाते हैं दो तरह जिसका कि उनका बैलेंस बना रहे और सीधा बाढ़ चले उसकी दिशा इधर उधर हो जाए इसलिए वो बिल्कुल ऐसे लगते हैं और फिर जब वो बाढ़ चलता है तो फन से आवाज होती है निकलता है तो ऐसा लगता है जैसे कि सर्फ जब खुंकार हुआ और उनका हुआ बड़ा तेजी से चला जा रहा है बस ऐसे करके बाढ़ मेघनाथ से निकले चले तो वैसे तो युद्ध का बात है और बाढ़ चल रहे हैं युद्ध हो रहा है तो जिनमें भी वीर रस होगा तो उनको ये कथा सुन करके बड़ा मन में उत्साह तो बड़ा मजादार युद्ध हो रहा है बड़ा अच्छा युद्ध हो रहा है <clears throat> लेकिन वर्णन ये जो है वो हो आध्यात्मिक दृष्टि देखे तो मेघनाथ काम है तो ये जितने बाण जाएंगे ये नाना कामनाएं और कामनाएं व्यक्ति के हृदय में एक नहीं अगले कामनाएं होती हैं और वे कामना एक के बाद एक एक के बाद एक कामनाएं सर्प की तरह से निकलती है इसलिए अपने हृदय में कामना को स्थान न दे कामना अगर उत्पन्न होती समझ ले कि सर्प पैदा हो गया है फुंकार रहा है जहरीला है और यह यह मार देने वाला है घातक है ये सब बातें समझाने के लिए इस प्रकार से कह रहे हैं कामनाओं को यदि कोई व्यक्ति उनको देता है चलो कामना हुई तो बहुत अच्छी बात है कामना होगी तो ये आगे चल करके हमको हमारा बड़ा कल्याण करेगी इससे बहुत हमको लाभ होगा बड़ा सुख होगा तो ये अज्ञान का सूचक है नासमझी की बात उसी में दिखाई देती कामना सर के समान विषय है और दुखदायी है अंत में व्यक्ति न जाने कितने व्यक्ति हो गए कामनाएं कर कैसे मर गए और सब जीवन में सुख ही भोगते रहे कहीं कोई सुख उनको नहीं होगा कामना कभी भी व्यक्ति को सुख देने वाली नहीं है सर्प के समान विषाक्त है ये बताने के लिए इसको इसके बाद बता करते जहाँ तहाँ पर देख नहीं बानर अब उनको जब वो बाहर चलते हैं तो जिस बानर के अब ये लोग तो कोई आए नहीं सामने इनको सबको ललकारा ना भगवान राम आए न लक्ष्मण आए न हनुमान आए न अंगद आए न नील कोई भी इसके सामने नहीं आते ये इसके बांस चलने लगते हैं और जिन बानरों को लगता है वो बानर घायल होकर के गिर पड़ते हैं जहाँ तहाँ फर्क देखे यही बानर और सन्मुख हो ही न सके तो अवसर और ये बानर लोग मेघनाथ जब इस क्रोध करके युद्ध करने लगा तो उसका सामना करने के लिए कोई सामने नहीं आया कोई पर नहीं है इनका सामना कर पा रहे ये दशा इनकी हो गई जाता भाग चले कपिरी खा तो ये जितने बानर भालू है वो सब मेघनाथ के सामने से चित्र बितर होने लगे भागने लगे और दूसरी सदन युद्ध की इच्छा और जब ये घायल हो गए युद्ध करने का जो उत्साह बानरों में इच्छा था वो खत्म हो गया ही इनका दिमाग ठंडा हो गया उसके मार के आगे तो ये कहने का तात्पर्य है कि लोगों के हृदय में <clears throat> साधकों के मन में भक्ति की भावना आती है ज्ञान भी आता है और अपने आध्यात्मिक साधना का बड़ा उत्साह भी आता है कोई भजन कर रहा है कोई पूजा कर रहा है कोई ध्यान कर रहा है कोई नाम जप कर रहा है ये सब बहुत करते हैं लोग बात लेकिन जब कामना मन में उत्पन्न होती है करते हैं सबको घायल कर हैं बस और फिर लोगों को न भजन की कामना रह जाए और न ध्यान की कामना रह जाए न नाम जब की कामना रह जाए बस उनको कामना रह जाती है तो विष्णु की कामना रह जाती है बस भागता उसकी तरफ भूल जाता सब साधना हम्म। ऐसे ही मानवों का हो गया कि जहाँ था भाग चले कपिरी था शरीर सदन युद्ध की था सो तो कपि भाग न रण माँ देखा कहते हैं कि वो समय जो है उस युद्ध क्षेत्र में <clears throat> कहीं न भालू दिखाई दे और न पानर दिखाई दे तीन से जिन कर यही न प्राण अवशेषा कि जिसका तो उसने प्राण अवशेष न कर दिया माने मेघनाथ ने बानरों को भालुओं को मार मार उनको सबको <clears throat> छिन्न भिन्न कर दिया घायल कर दिया और अशक्त कर दिया और युद्ध करने के सामर्थ्य में नहीं रहे और बस प्राण अवशेषा बस इतनी बात रहेगी कि मरे नहीं प्राण रह गए बस इतनी बात है सात शक्ति भर रह गई बाकी सब बानरों की सारी शक्ति नष्ट नष्ट हो गई मेघनाथ तो कहते हैं दस दस सर सब मारे से बड़े धूम वीर और कहते हैं कि मेघनाथ ने सबको दस दस बाण सबको मारे एक बाण नहीं दस दस बाण और जिसके दस बाण शरीर में लगेंगे तो सारा शरीर घायल हो गया रक्त प्रवाह होने लगा सत्र सामर्थ्य नहीं रहेगी ये होगी अरे घूम कपिवीर और ये जो बानर दिए जितने थे बाल प्यार ये घूम घूम में गिर पड़े जमीन में पड़े घायल होकर ये रखाव और सिंहनाथ कर गर्जा जब देख रहा था देखा तो सब बानर फल से जमीन पर दड़ा खाई सब दस वहां खा करके लेती हुई पड़ी हुई साहब इनको देख करके मेघनाथ में बड़ी प्रसन्नता हुई और मेघनाथ गर्जना करता है तो जब इन वीरों को अपने युद्ध में सफलता मिलती है तो युद्ध के बाद गरजते हैं अब ये इसी पदार्थ में सिंह अनाद कर कर गया इस तरह से बड़ी जोर से अपना आता मार करके गजनाथ में की मेघनाथ बन गई मेघनाथ जैसे बही नाम है उसका मेघनाथ जैसे बादल गरजते हैं इस प्रकार वो गरजा सिंह की तरह से और अपना उसने फल दिखाया कि देखो इतनी शक्ति हमारी है तो साधकों के जीवन में साधना को और उत्साह को भंग कर देने के लिए ये कामना बड़ी प्रबल है यही लोगों कामना जो है उनको लोगों को ध्वस्त कर धराशाई कर देती है अब ये दस दस बार क्या है दस बार के माने पांच ज्ञानेन्द्रीय पांच कर्मेंद्र बस यही दस है माने इन सबको उसने घायल कर दिया इंद्रिया विषयों की तरफ चल पड़े ज्ञानेन्द्रिया विषयों की कामना करने लगी और कर्मेंद्रिया उन विषयों को प्राप्त करने के लिए दौड़ पड़े कर्मेंद्रिया और ज्ञानेन्द्रिया एक दूसरे के सहायक ज्ञानेन्द्रिया विषयों की कामना करती ये विषय बहुत प्रिय है ये प्राप्त होंगे तो बड़ा सुख होगा ज्ञान ज्ञानेन्द्रिया कोई विषयों को सीधे प्राप्त नहीं कर लेंगी तो उनके लिए इंद्रियों को चाहिए व्यक्ति कर्म करता है आपका पैर चलाता है भागता दौड़ता है तो ये सब इंद्रिया काम आती तो ये सबके सब इनको जो ये है ये सब तो सारी सब इंद्रिया होती है ये इंद्रियों को कामना जब उत्पन्न होती है तो कामना क्या करती बने ये सब इंद्रियों की विषयों की कामना उत्पन्न हो गई और इन सब में वो उनके विषयों की कामना प्राप्त करने के लिए जैसे व्यक्ति चल दे वैसे चल दिए और साधना जो आध्यात्मिक साधना थी ज्ञान था वैराग्य था वो सब का सब नष्ट हो गया विवेक जाता रहा बस ये दशा उनकी हो गई भवन सुत कटक बिहाना क्रोधवंत जन काना महासैनिक तुरत उकारा अतिरस मेघ नाथ पर डारा आवत देख गये नर सोई रथ सारथी तुरग सब खोई बार बार पचार हनुमाना निकट नाव परम सो जाना रघुपत निकट गय गन नादा नाना भांति कर दुर्वादा प्रयास कौतुक प्रभु काट निवारे देख प्रताप पूर्ण सयाना करे लाज माया विधि नाना जिनको करे जरूर से खेला डर पावई गए स्वल्प सपेला व्याप प्रबल माया बस प्यो बिरंज बल छोट काय दिखावई निश्चर निज माया मति खोट सियावर रामचंद्र की जय कवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय देख पवन सुख कटक जिहाला अब देखो हनुमान जी है वो हो इसे मेघनाथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हैं हनुमान ने देखा कि मेघनाथ ने तो बड़ा मारकाट की और बहुत बात चलाई ये हो होगी बांधवों की संभाल हुए पड़े हैं तो बस हनुमान क्रोध बंध जल धायु काला बस हनुमान जी से मार क्रोध आ गया उनको और काल की तरह से वो झपट करके मेघनाथ के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया अब देखते हैं कि वो मेघनाथ से युद्ध करने वाले ये मन लिए दुविध दुविध उसके सामने युद्ध करने के लिए नहीं आते अंगद आदि नहीं आते पहले दिन जब युद्ध हुआ तब मेघनाथ जिस द्वार पर लगा था उसी द्वार पर हनुमान जी को लगाया गया हनुमान और मेघनाथ का युद्ध हुआ तो हनुमान ने पत्थर फेंक करके उसके रथ वस्त्र उतार दिए और उसके भी मेघनाथ की लाठी भी छाती मारी उसको बेहोश भी कर दिया तो दूसरा रथ ला करके उनको मेघनाथ को उठा करके ले जाया गया भीतर इस प्रकार से मेघनाथ पहले दिन पराजित हो चुका हनुमान जी से तो हनुमान ने अपनी शक्ति का भरोसा दिया कि मैंने जैसे कल इनके साथ में मेघराज को पराजित किया ऐसे मैं कर सकता हूँ तो वही हिम्मत बांध करके मेघराज के ऊपर फिर आक्रमण किया और कोई दूसरा इससे युद्ध करने के लिए नहीं आता तो, तो के तुरंत वो पारा हनुमान के पास अस्त्र क्या है एक बड़ा पत्थर उठा लिया छोटे पत्थर जितने जितनी बड़ी शक्ति होती है उतनी बड़ा पत्थर उठा करके फेंकते अनुमान ज्यादा शक्ति है तो बड़ा पत्थर उठा दिया पर्वत जैसा भयंकर बड़ा भारी पत्थर उठा दिया और उसको लेकर के मारा अति मेघनाथ पर डारा अखरूट करके वो पत्थर मेघनाथ के के ऊपर फेंका तो आप तो देख गये नव सोई तो आपने देखा जो पत्थर आ रहा है इतना बड़ा भारी पर्वत पत्थर तो मेघनाथ ने देखा हमारे ऊपर आकर के गिरे तो हम इतना दब जाएंगे मर जाएंगे तो मेघनाथ तुरंत रथ पर से कूद करके आकाश मोड़ गया और रथ को छोड़ दिया भाई रथ कार की रथ सब खोई एक तो ये कि रथ घोड़े और सारथी इन तीनों को छोड़ करके वो मेघनाथ भाग गया वहां से और खोई के माने ये भी है कि ये सब मारे गए रथ भी चूरपूर हो गया घोड़े भी मर गए सारथी भी मर गया अब मेघनाथ इनके बिना इनके हाथी घोड़ों के साथी भारतीय रथ के बिना बिना रथ के रह गया इतना काम हनुमान जी ने कर दिया तो एक प्रकार से मेघनाथ की हार इतनी हो गई कि उसका रथ रहित हो गया वो अब बार बार पचारे हनुमाना अब हनुमान उस मेघनाथ को बार बार पचार बने उसको ललकारते हैं क्या जाओ कहाँ भागते हो तो मेघनाथ भाग खड़ा हुआ था हनुमान जी से दूर तो हनुमान उसको बुलाते आओ हमारे पास तुम करो युद्ध करके तुम्हारे तो हनुमान कहते हैं कल जैसे तुम्हारी छाती मिला तुम्हारी तुम बेहोश हो गए आओ हमारा तुम्हारा युद्ध हो जाए आज पर देख लो तो ये इस प्रकार बोलते हैं उनसे तो निकट में आप मरम सो जाना क्या हुआ इसका कि मेघनाथ जो है वो हनुमान के पास नहीं आता मरम सो जाना कि मैंने कल की बात याद आ गई हम पास जाएंगे तो ये जो है इनसे हम बच नहीं सकते ये जो है हमें दोस्त कई दिन कम से कम मार ना पावे तो कम से कम बेहोश कर देंगे मेघनाथ को ये भी मालूम था एक प्रकार से मेघनाथ ने तपस्या की उसे वरदान था कि जो जिसने की बारह वर्ष तक बड़ी तपस्या की होगी हाँ, वो मार सकता है जिसने की सात वर्ष सोया न हो अन्न न खाया हो बारह वर्ष तक ऐसी तपस्या की हो ब्रह्मचारी रहा हो वो मेघनाथ को जानता था कि हमसे ऐसा कोई आएगा युद्ध करेगा तो हो सकता है कि वो उससे हम हार जाएंगे यही हारने की एकमात्र युक्ति थी तो उसने मेघनाथ सोचा ऐसा भी हो सकता है कि ये बारह वर्ष से न सोए हो खाए पी तो बानर वैसे ही है अन्न इन्होंने न खाया हो गए खा से रहते हो ऐसे समझ तो हो सकता है की यहाँ तो हमारा मरना लिखा हो तो इसके कारण से हनुमान से वो दूर भी रहता है शक्ति भी इनकी जानता है और हनुमान से दूर रहता है नहीं करता तो रघुपत निकट गये घने नादा तो कहते हैं रघुपत निकट गये अब वो मेघनाथ क्या करता है हनुमान जी के साथ तो आता नहीं उसने जहाँ भगवान राम को देखा लक्ष्मण देखा तो जहाँ ये लोग थे मेघनाथ वहाँ पहुँचा जा सकते और उनके साथ माया करने लगा नाना भाग करे तो दुर्वादा और उनको रा करके दुर्वाद वचन बोला माने गालिया भी आ करके भगवान राम गालिया भी इनको की तुम युद्ध नहीं करते क्या इनको भेज देते हनुमान हनुमान के बांधो बांधो तो तुम सेना दे करके आये हो युद्ध करना तो तुम आओ युद्ध करो आ करके तुम तो मुझ छिपाए यहाँ बैठे हुए हो अपने आप को बड़ा शक्तिशाली समझते हो बड़े धनी बनते हो आकर के हमसे जगह नहीं करते ऐसे करते उनको दुर्वाद भी कहा लटकारा भगवान राम लेकिन भगवान राम ने कुछ नहीं कहा तो उसने क्या किया मेघनाथ ने कि अस्त्र शस्त्र तो सब डारे तो मेघनाथ जब वो तमाम प्रहार करने लगा भगवान खड़ी रहे और उसने अपने अस्त्र शस्त्र मार मार छोड़ना शुरू किया हंसा का फेंका मल्लम फेंका ये सब उसने फेंके और कौतुक ही प्रभु काटने वाले जब भगवान ने देखा कि ये सब उसके अस्त्र सब फेंके हुए चले आ रहे हैं हमारे ऊपर लगने के लिए तो भगवान ने बाढ़ चढ़ाया बाढ़ मारा तो उस बाण के बाणों के लगने से उसके अस्त्र जो आते हैं बीच में ही कट करके गिर जाते हैं भगवान के पास तक आते नहीं तब मेघनाथ देखता है हमने ऐसे अस्त्र चलाए उनके पास तक पहुँचे तक नहीं ये बिगड़ में सब गिर गए टूट गए चढ़ गए ये तमाशा देखता है वो तो कौतुक ही प्रभु काट है कौतुक ही मैं खेल खेल उनके लिए भगवान के लिए ऐसा कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा ये तो उनका सही काम बलदेव प्रताप से आना जब मेघनाथ ने देखा कि हमारा प्रहार इनके ऊपर कोई काम नहीं करता तो कैसे आना कि मैंने उसको क्रोध आया और ये उसको बड़ा खराब लगा कि देखो हमारा सब प्रहार आ गया इनके ऊपर कोई असर नहीं करता और ये खड़े खड़े हक रहे हैं देख करके हमारे प्रहार को देख करके तो उसे और गुस्सा आया और करे लाज माया विनाना तब तो उसने वो माया करना माया करने के मरे जैसे कल देखा था माया का कार्य देखा कि वो जब सायकाल हो गया युद्ध करते तो पात्रों ने अंधेरा कर दिया और फिर खून बरसा करने लगे पत्थर ही बरसा करने लगे धूम की बरसा करने लगे तो ये सब इस प्रकार का हो जाना ये सब माया जाए तो यही सब माया इसी प्रकार से मेघनाथ ने फिर माया की तो जिम को करे जरूर कहे खेला उसकी माया कैसी है एक उदाहरण देते हैं जिम को करे जरूर से खेला जैसे जरूर के साथ में कौन फील करे डर पावे कहीं पर सपेला जैसे सपेरा कोई हो सपेरन सांपा हो और फिर गरुड़ के पास जाकर के सांप पाले हुए अपने सांपों को लेकर के गरुड़ को वो सांप दिखा दे गरुड़ जिन सांपों को खा जाता है सांप कुछ उसके लिए कोई माने नहीं रखते हैं ऐसे गरुड़ को कोई सांप दिखा करके डरवावे तो ये कोई डराने की बात है तो डरने वाला गरुड़ कोई है और सांप भी क्योंकि वो पकड़ करके जबरदस्ती हैं <clears throat> उसके सामने जब के सामने करे सवेरा तो सांप भी फुकार दे डर के मारे फुकार दे की जड़ हमको पास आने जाए खा न जाए तो फुकार भी दे सब सांप तो ये सवेरा समझे देखो मेरे सामने ने जड़ को फुकार मार करके डरवा वो अपनी बात समझे लेकिन घरों के लिए ये सांप आप कुछ रहे हैं और सवेरा के कर्मी कुछ रहे हैं इसी प्रकार से ये माया जो है मेघनाथ की सांप के समान है और मेघनाथ सवेरे के समान और उसकी मेघनाथ की सब माया क्या है उसके सामने कुछ माया नहीं जो कहते हैं आगे दिखाते जिसकी माया है ही कितनी मेघनाथ की कि तो प्रबल माया बस विरंज मड़ छोड़ भगवान के पास ही तो माया है उसकी तो माया शक्ति है माया भगवान की माया शक्ति इतनी प्रबल है कि उस माया के कारण ही ब्रह्मा कृष्ण जैसे देवता जो है ब्रह्मा जी और शंकर जी जैसे देवता जो है ये भी छोटे बड़े जितने भी देवता हैं माया के कारण कि भाई ये वेदांत की बात की ना चलता है युद्ध लेकिन ये <clears throat> कितने देव सबसे बड़े इंद्राज देवताओं से छोटे हैं और अपने आप देवता है पवन देवता है सूर्य देवता ये सब देवता छोटे हैं संयोग बड़े ब्रह्मा देवता है छोटा देवता ये भेद कैसे हो गया एक ही परमात्मा के सारे रूप है जितने देवता है तो परमात्मा के रूप लेकिन कोई बड़ा देवता छोटा देवता क्यों है कि जिसके पास जितनी माया शक्ति है उतनी देवता और जिसके पास माया शक्ति कम है उतना ही छोटा देवता परम परमात्मा तो महामाया की शक्ति है उससे बड़ी माया कोई है ही नहीं वो शक्ति परमात्मा की ब्रह्मा के पास भी माया शक्ति जिसके द्वारा जगत की रचना करते हैं शंकर जी के साथ में माया की शक्ति है जिसके द्वारा संघार करते हैं ये सब माया है इंद्र के पास भी माया शक्ति है कि इंद्र के राज बने हुए राजा बने हुए बैठे हैं इंद्र वास्तव के राजा बने बैठे हुए सबके ऊपर शासन कर रहे हैं उनके पास भी माया शक्ति <clears throat> ये सब आदमी सूर्य क्या उनके पास भी माया शक्ति अरे यहाँ तक देखो <clears throat> ये माया शक्ति मनुष्य के पास भी माया शक्ति है मनुष्य की माया शक्ति में एक बात ये है कि अन्य देवताओं की माया शक्ति में फिर देवता का तो स्वामी और माया शक्ति उसके अधीन है जितनी माया शक्ति है उतनी शक्ति भर वो देवता अपनी माया का काम लेता है लेकिन मनुष्य के साथ ये हो गया कि माया शक्ति तो हो गई प्रधान और जीव हो गया उसके अधीन लेकिन माया शक्ति जीव के साथ नहीं जैसे रात्र में जीव हो गया तो स्वप्न देखा है तो स्वप्न की रचना कैसे हो गई जीव की माया ने सपने की रचना कर दी वहां माया स्वप्न जैसी कोई वस्तु है नहीं लेकिन सपना रच गया तो जहाँ कुछ न हो ना कल्पना से रचना हो जाए दिखाई देगा जाए माया है तो कोई जानना चाहे कि माया कैसी होती है देखना चाहे अनुभव करना चाहे तो अपनी माया को देख लो रात में सो स्वप्न को देख लो तो रात्र में जो स्वप्न होता है उसमें माया में दो बातें एक तो न होते हुए भी नाना तो दिखाई देने लगता है पृथ्वी को नक्षत्र तारे तमाम व्यक्ति पशु पक्षी ये सब दिखाई देने लगते हैं तो ये भी एक माया है और दूसरी बात ये कि वो सत्य भी दिखाई देने लगती है ये भी एक माया ये दिन मिथ्या है लेकिन जिस समय हम सपने देख रहे होते हैं उस समय स्वप्न सत्य दिखाई देता है और उसमें स्वप्न में यदि कोई लाभ होता है तो प्रसन्नता भी होती है कुछ हान हो जाती है तो दुख भी होता है ये क्यों होता है माया को हम सत्य समझते हैं कि दोनों काम माया में होते हैं और मनुष्य अपनी माया को चाहे कि अपनी इच्छा से चलाओ कि जब चाहे तो स्वप्न देखे चाहे स्वप्न न देखे तो ऐसा नहीं हो सकता कुछ जीव को रात में सोना पड़ेगा स्वप्न देखना पड़ेगा और स्वप्न भी भयंकर होगा तो दुखी भी होना पड़ेगा ये जीव की समस्या देवताओं के साथ ऐसा नहीं है वे अपनी माया के अधीन होकर के उसके पर्वत होकर के नहीं माया का कार्य लेते हैं जैसे ब्रह्मा जी जगत की रचना करते माया का जगत रचना करते लेकिन जगत रचना करने के बाद ब्रह्मा जी जो है उस माया जाल में नहीं है ये नहीं समझते जगह जगत की रचना कर दी है सत्य है में जो लाभ हानि हो रहा है वो मेरा लाभ हानि हो रहा है ऐसे करके ब्रह्मा जी नहीं समझते कि अपने आप के ज्ञान में परमात्मा ज्ञान में रहते हैं उनका ज्ञान बरकरार रहता है अज्ञान उत्पन्न नहीं होता तो इस प्रकार से कहते हैं माया के कारण सब भेद है कोई ज्यादा शक्तिशाली है कोई कम शक्तिशाली है कोई माया का स्वामी है कोई माया के अधीन है उन्हीं के बीच में देखा करो भी माया वो भी एक अपनी माया करते हैं निशाचरों माया क्या छल कपट है दम है धोखाधड़ी है कहीं देखो रास्ते में निकलो कहीं किसी का सामान उठा लिया चुरा लिया कोई धोखा दे दिया और उसने उसका सामान चल लिया पैसा निकाल लिया जेब काट ली पैसा तो निकाल लिया कहीं किसी का सामान खाद भाग गए ये सब माया होती और जान भी नहीं पाए तो क्या ये निशाचर लोग ये सब अपनी माया करते हैं और इस प्रकार से लोगों को जो है उनका ठगते रहते हैं ये निशाचर ही माया होती है क्या बस यही बात साधारण सी बात उसको कहने का तरीका इस प्रकार से तो कहते जात प्रबल माया बस शिव ग्रंथ बड़े छोट उसी परमात्मा की माया में ये सब बड़े छोटे देवता सब जो है वो उसी के कारण से दिखा दिखावे निश्चर निज माया मत को अब ऐसे भगवान को वो शिष्य बुद्धि मेघनाथ उनको अपनी माया दिखाता अरे जो भगवान के पास इतनी महामाया की शक्ति है उसके सामने मेघनाथ की माया है समाज में देखते हैं भगवान ने उसकी माया को तत्काल ही समाप्त कर दिया धर्म मात्र में दूर हो और की माया भी नहीं चली इसको कल देखेंगे आगे नान्या रघुपति हृदय समदीये सत्यम वदामि च भवान् सत्यम प्रयत्न रघुपम कामादिदोषरहितं कुरुमान् श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय